आपने तीन पर तीन देने का संकल्प करो तो महीन बाथरूम जब जा जल भर जल पाप को उन्होंने संकल्प करने के लिए तो शुक्राचार्य जी बारे रहे संकल्प पीछे करना पहले हमारी बात सुन गई शुक्राचार्य वहां बैठे थे सब बात सुन रहे थे उनकी ऐसा कौन किया कि ब्राह्मण आ गया है उन्होंने सब अपने ज्ञान से योग से देखा तो समझ गए तो साक्षात देखने उन्होंने कहा तू शेष वैगोत ने साक्षात भगवान विष्णु बन गए अरे तुझे पता नहीं है लेकिन साक्षात देवताओं के पक्षपाती विष्णु हैं पार्वती के गर्भ में अभी प्रगति गर्भ से प्रगट हुए हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अगर उनको तू सब कुछ दे देगा तो तू कैसे अपनी जीविका करेगा सर्वम नेत समृतम भूलिया तब कीर्तन प्रसन्न था तो इसलिए <clears throat> बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सब कुछ दे देना भी नहीं चाहिए किसी को दे किसी से हाँ करे किसी से ना करे सभी तो काम सही और सब ऐसे ही जुटा दो तो।, तो महाराज मैंने तो प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको जो मांगोगे से दूंगा अरे छोड़ इन जगह इतनी जगह झूठ जो है निंदित नहीं मान जाता स्त्री श्रीमर मधुबाहे छो प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नाम संसार जुगुप्सितम स्त्रियों के बीच में अगर कोई असत्य बात कह दे तो वहां कोई निंदित नहीं हंसी मजाक में झूठ बोल जाए क्या बात विवाह हाफिस में तो झूठी प्रशंसा करने पर वृत्यर्थ अपनी वृत्ति नष्ट हो रही है पर थोड़ा झूठ बोलने से बच जाएगी तो बोल दो प्राण संकट है अगर हम बिल्कुल सच बोलते हैं तो फांसी लगेगी और थोड़ा झूठ बोलने में बच जाएंगे तो बच जाओ बिल्कुल थोड़ा झूठ दो ब्राह्मण आपके गौ की रक्षा हो रही है ब्राह्मण की रक्षा हो रही है अरे ऐसी जगह अगर कोई झूठ बोल दिया जाता है तो वो जुगुप्सित नहीं है तो सत्ताचारी नीति बलि सुखा बड़ी बड़ी गंभीरता से बड़ी महाराज थोड़ी देर शांत हो और फिर बोले सत्यम बदलता प्रोत्तम धर्मोलन ग्रह योजना आपने गृहस्थियों का धर्म बताया बिल्कुल अर्थम कानून विषयवृत्तम ये बाधित कर सके पर महाराज मैंने पुराणों में यह सुना है नहीं असत्या परो धर्म तो हो बात सिद्धि नहीं पृथ्वी माता ये कहती है कि सबसे बड़ा अधर्म क्या है तो बोले मिथ्या बोलना असत्य असत्य से बड़ा तो कोई अधर्म ही नहीं है सर्वम शोध मलम होते लीक परम मैं सब सबका बोझा में सह सकती हूँ पहाड़ों का बोझा में सह सकती हूँ पृथ्वी माता कहती है सब झुकबोले का बोझा मैं नहीं सह सकती हूँ नहीं असत्य समतापक पूजा जो समूह से कोशिश दुनिया ऐसा यदि अभ्यास लोकेश्वरी संपरेशन बना रहे महाराज इस या तो हम इस धन को छोड़ के चले जाएंगे या जीवन में एक धन ही उनको छोड़ देगा तो इससे क्या है चलो तो इससे ब्राह्मण को हम तृप्ति कर दें करे तो बड़ा पंडित मानी है हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा का उल्लंघन कर रहा है शीघ्र श्रीयो विश्व से अपनी लक्ष्मी को जल्दी खो है बस भक्ति बलि महाराज ने तो भी गुरु जी रुष्ट हो गए कभी वो घबराए नहीं और वो संकल्प लेने लगे तीन पद पृथ्वी का संकल्प लेने के लिए तो कहते हैं जो जो सागर होता है उसकी पीठ में आकर के और जमीन नहीं निकले तो थोड़ा जहरी जो है तो अगर ब्राह्मण भगवान ने जो कुशा हो तो उसमें डाली तो कहते हुए कहां के भी निकल के ब्राह्मण संकल्प को छोड़ते ही अब भगवान ब्राह्मण का स्वरूप बढ़ने लगा विदेश लोकपालन करने उत्साह मूर्ध जऊ एवं सर्वात्मनि त्रिभुवन दीक्ष भगवान ने वो अपना रूप बढ़ाया क्या तीनों लोग भगवान के शरीर में दिखने लगे भगवान ने जो है श्रुतिम बदलते बदले विचक्र एक पैर से जो लंबा किया तो पृथ्वी सारी नहीं नवा शरीर शरीर से सारा आकाश बाहुओं से दिशा कदम द्वितीय द्वितीयम क्रम कदम दूसरा जो उन्होंने कह रखा तो आकाश पर राजस्व नापी नरम पृथ्वीया तदीजन मती तो तीसरे पैर के लिए कुछ रहा ही नहीं जाती दूसरा पैर जब गया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा में ने भगवान के चरणों को धो लिए तो वही फिर उन्होंने अपने समंदन में रख लिया तो वही गंगा हुआ गंगा जाता जो तीनों लोगों को व्यवस्थ करती है बोले थे कहने तीन पद देने को हमसे साथ है और दो पद में हमारा हमने तुम्हारा सम्मान लिया लाओ तीसरे पैर के लिए क्या देते तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके और कुछ दिन के लिए नरक में जाओ गरुड़ जी को आज्ञा दी तो उन्होंने गरुड़ जी ने गरुड़ के पास में से बांध लिया गली अरे विश्वनाथ को राम राजवाणी था और सर्जरी फलम से पर अब तुम अपनी बात को सच्ची नहीं कर सके उसका फल कुछ दिन भोगो ये भगवान ने जाता बली महाराज बोले कि महाराज मेरे बचना को यह आप असत्य समझते हैं तो मैं अब भी सत्या कर सकता हूं वैसे तो मैंने कोई झूठ बोला नहीं मेरी बात तो असत्य कर रही क्यों आपने जिस रूप में आकर के तीन पक्ष की मांगी थी उसी रूप से नाचना चाहिए हाँ? और बनने के बाद लेने की और देने की और तो ये कैसे आपको मानने के समय आपका वो स्वरूप नापने के समय भी तो अब मेरे वचन बड़ी ने कहा कि आप ये बताइए कि संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति वाला बड़ा होता है जिसकी संपत्ति है वो बड़ा या संपत्ति है भगवान ने कहा कि संपत्ति तो जिसका अधिकार है जो इसका मालिक है वो बड़ा होता है धन क्या है बोले जी अभी तो दो पैर में तीन मेरी संपत्ति नाती है मैं तो घूमगी तो पदम तुम तुम शीर्ष गए अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लो मैं अपना शरीर आपको रख एक जन ब्रह्मा जी वहां आ गए प्रहलाद जी आ गए आप ब्रह्मा जी कुछ निवेदन करना चाहते थे उसी समय बली की स्त्री जो बिंदावली थी वो भी भगवान से निवेदन करने लगी तो ब्रह्मांड पीछे रखिए और कहा अच्छा देवी तुम करो पहले क्या कहना चाहिए तो वृंदावन विवाह बलि की स्त्री कहती है भगवान त्रिदार्थ आत्मनिगम त्रिजगत कीर्तन से स्वामी तो तत्व तुझियो परम शक्ति करुण आपने सारा जगत अपने पीड़ा के लिए खेल के लिए बनाया ये जगत क्या है ये आपका खेल है क्रीड़ा अर्थ आत्मनिगम त्रिजगत कीर्तन से स्वाम्यंत तत्व कुभियो परईशपुर और, और जो मूर्ख जीव हैं इसके स्वामी बनने लगे संसार की जितनी वस्तुएं ईश सृष्टम और जीव हो गई संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की बनाई हुई है और जीवों ने उस पर अधिकार कर रखा है भौम वस्तु भगवान की बनाई हुई है अब भूमंडल भगवान का पृथ्वी भगवान की और दो अंगुल पृथ्वी ऐसी है कि भगवान के नाम से छोड़ी गई हो सब जगह धुंधली खिंची हुई तार खिंचे हुए अमुक किए अमुक किए तो इस सृष्टम जीव भोग्यम जगत ग्राभ्याम संबंधित पितृजन्या भक्तभोग्या यथा विषित प्रतूषित इसलिए दुर्गावली कहती है ये सारा विश्व आपका है मैं अपने पति से पूछती हूं ये जो कहते हैं कि मैं अपना शरीर आपको अपना करता हूं क्या इनका शरीर इनका है अरे आपने शरीर भी तो आप इनका है ये भी अपना शरीर में जो अभिमान करना है ये भी खतर है ये शरीर भी हमारा नहीं है ये शरीर भी परमात्मा का ही दिया हुआ है उन्हीं का इसलिए हमारे पति के आप अपराध को क्षमा ब्रह्मा जी बोले महाराज आपके चरणों में कोई जल चढ़ा दे श्रद्धा से दूरवान को आपके चरणों पर चढ़ाए गए तो भी उसको सदगति मिलती है और इसमें तो तृणों की आपको अर्पण कर दी और तो आपने वरुण के पासों से बांध रखा भगवान बोले ब्रह्मण गमन जन्म तद्विषो गमन जी जिसके ऊपर हम अनुग्रह करते हैं उसकी संपत्ति को पहले हम सीखें क्यों तो उसमें अभिमान करके वो मेरा अपमान करने लगे क्योंकि इस काम में माया अदेशी ये जो गली है इसमें तो मेरी माया को पर विजय प्राप्त कर दी ये इस अवस्था में भी दुखी नहीं हो रहा क्षीण घना स्थान आप दृष्टा इसकी सारी संपत्ति हमने छीन ली तो इसको गरुड़ के दासों से बांध लिया गुरु जी ने उसको साथ दे दिया तो भी इसने अपने सख्त वचनों को नहीं छोड़ा एक तो सावर्ण तो मन करे बंधन करे ये आगे के बंधन करने ये इंद्र पद को प्राप्त करें केवल स्वम जाति से स्वतनम दिया है और अपने भाई बंधुओं को साथ में लेकर के सुतल लेकर चले जाओ तब भद्रम वस्तु तुम्हारा कल्याण वहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं है सुतल लोग जो है किसी प्रकार के क्लेश नहीं है कदालत <clears throat> तद आज्ञालंघो दैत्यानु चक्रम ईश्वर तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन जो कोई देश करेगा सुदर्शन चक्र उसको पीड़ित करेगा दंड देगा सर्वता सांगम काम लक्ष्य से सब परिवार के साथ मैं तुम्हारी वहां रक्षा करूंगा वीर तत्प्रमाण भगवान वृक्ष वृक्षते वहां मुझे तुम और सदा अपने पास देखोगे सदा मेरा तुमको दर्शन होगा दैत्यों के संग से जो तुम में आसुर भाव गएगा तो अब ये भगवान ने प्रसन्न होकर के कितना अनुग्रह किया तुम सदा वहां हमारा दर्शन करोगे उस लोक में यहां थोड़े भगवान से दर्शन देते उनको कहते हैं कि वो गली जहां बैठते थे उसके इक्यावन दरबारे थे और तो भगवान सब खड़े बैठे नमालू के घर देखने लग गया तो गली उसको दर्शन देते भगवान ने जब ये कहा तो बली महाराज के नेत्रों में आंसू आ और उनकी बाने गदगद हो गई बोल नहीं सके महाराज मैंने आपको क्या दिया मेरे पास आई क्या मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता सुखने जी कहते हैं गली महाराज ये कह रहे थे एक ही समय मुक्ता बदल नत्वा ब्रह्मानंद शिवम नत्वा भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भगवान शंकर को प्रणाम करके पापों से मुक्त होकर के देवियों को साथ में लेकर के बड़ी महाराज सुकल को चले सुकल लोग से चले भगवान ने वो जो है उसका जो संपत्ति स्वर्ग आदित था वो लेकर के इंद्र को दे दिया भाव ततो लब्ध प्रसादन पौत्रम दृष्टा प्रहलाद जी ने देखा कि मेरा जो पौत्र है बलि जो है भगवान ने स्कूल पर बड़ी कृपा की प्रहलाद जी बोले हे भगवान इमम प्रसादम ब्रह्मा शिवा लक्ष्मीश्च न लगते जैसे बलि पर आपने जो कृपा की है ऐसी कृपा तो आपने कभी ब्रह्मा के ऊपर भी नहीं की ब्रह्मा तो आपको पुष्ट है हैं ब्रह्मा जी के ऊपर आपकी ऐसी कृपा नहीं हुई भगवान शंकर की ऊपर वो कृपा नहीं हुई लक्ष्मी जी की ऊपर वो कृपा नहीं हुई तो सौ कौन सी वो कृपा यम वो दुर्ग पालो आपने मुझे कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा सरोस तो हमारे किले के आप दुर्गपाल बन गए पहरेदार बन गए कहा हम वयम रुक जाता है दुर्वृत्ता अस्मात होते प्रहलाद जी ने भगवान से प्रहलाद को बोले भगवान हे भक्स बेटा प्रहलाद अब तुम अपने पौत्र के सहित उन्नीस लोग को चले जाओ तत्र गदा पाणी सुखम माम नित्यम वृक्षति बात में गदा लिए हुए तुम मेरा सदा दर्शन करोगे वर दिया हमारी होगी और ऐसे गदा पाणी भगवान की आज्ञा पाकर के प्रहलाद जी सब लोग उनका महाराज ज्ञान यज्ञ पुरुष साक्षात भगवान यहां विराजमान है और उस यज्ञ में कमी क्या है परिणाम कीर्तन मंत्र संख्या न्यू मंत्र सर्वम पूर्ण बहुत मंत्र संत छिद्रम देश काला अवस्थितम सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तन मंत्र में तंत्र में जो कुछ कहीं किसी वस्तु में जो कमी होती है वो आपका नाम संकीर्तन आपका मंगल का नाम लेने के अनुसार पूर्ण हो और आपकी आज्ञा है तो उसको भी हम पालन करते हैं पर शुक्राचार्य ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए स्त्रियों के साथ जो उसने नींद का भजन किए थी उसको पूर्ण किया एवं महेश गले महीन विक्षिप्ता रात को इंद्राय स्वर्गम भगवान ने खुदा गली से पृथ्वी आदि लेकर के इनके को दी यह एकदम हरे अवतार परिश्रम स्वरूपी सापराम गति आती भगवान के इस चरित्र का जो श्रवण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है जो राजा कहने लगा महाराज हमने सुना है भगवान ने मछली का मत्स्यावतार ग्रहण किया मछली क्यों बन गई है और तो वो सुखदेव जी बोले के देखो राजन एक सत्य नाम के राजा थे वो कृष्णमाला नाम की नदी में तर्पण कर रहे उनके हाथ में एक मछली आ गई उसे हमें जल में छोड़ने लगे तो मछली मनुष्य की भाषा में बोली राजन तुम मुझे जल में छोड़ते हो मेरे से बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी तो फिर क्या बोले मुझे अपने साथ ले चलो मुझे मेरी रक्षा कर तो मछली को कमंडल में रख करके ले आए रात्रि में घर में देखा तो कमंगल भर गया रेलवे में तो बहुत छोटी जगह कोई बड़ी जगह रखो महाराज तो उन्होंने उस मछली को फिर एक मटके में रख दिया बहुत मटका में जल भर के और उसके बाद उन्होंने देखा तो मटका भी पूरा भर गया वो फिर मछली बोली तो और कोई बड़ी जगह दो पर उन्होंने उनके यहां एक सरोवर का तालाब तालाब में जाकर के छोटी से तो वो कहते हैं वो तालाब भी पूरा व्याप्त हो गया भर गया मछली बोली महाराज ये तालाब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ऐसा कोई तालाब जो लोग जो कभी सूचता हो उनकी ऐसा समुद्र है उसको ले जाकर के समुद्र में छोड़ा तो बोले मेरे यहां का बड़े बड़े मकर मुझे खा जाएंगे यहां से बोले राजा बोला था तुम मेरे को मोह मत डालो तुम मछली उछली कुछ मिलो इस रूप में कोई आप हाँ, अवतार भगवान प्राप्त है और एक खूब अरे हाँ भगवान बोलो अरे वो रथ देखा से साथ में दिन ये समुद्र सबको डुबा देगा त्रिलोकी को प्रलय हो जाएगी और उसमें मेरी प्रेरणा से एक नौका तुमको दिखाई देगी उस नौका में तुम औषधियों के बीज सकते के गेहूं चावल आदि के इनके बीज लेकर के सप्तषियों के साथ नौका में बैठ जाए गांव नौका में बैठ करके और वो भाई के देर से चंचल होगी नौका तो मैं उस समय प्रकट हो जाऊंगा मत्स्य के रूप में तो नौका को वास नाग से मेरे सीन में बांध देना मैं उस नौका को घर घर खींचता फिरूंगा और तो इस तरह से ब्राह्मी निशाओं समाप्त हो जाएगी ऐसा भगवान ने कहा तुम जो प्रश्न करोगे हम उनका उत्तर देंगे राजा से ये बात कर और तो राजा और दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब वो स्थापना दिन हुआ तो सारा बड़ी जोर से गायु के लिए वर्षा हुई समुद्र मर करके आया सारी पृथ्वी उसमें डूब गई और राजा ने जान किया तो हरित तो लौटाले एक श्रृंग धरो हईमा लक्ष्य योजनो मत्स्य अपराधित गया उस समय प्रलय काल के जल में एक जिसके सींग है लाख योजन का विस्तार विस्तार है ऐसा एक मत्स्य प्रकट हुआ दास की नाव से उसके सींग में नाव बांध दी गई सप्तर्षियों के साथ राजा उसमें बैठ गया और राजा जो है प्रश्न करता था भगवान उसको उत्तर देते जाते थे तो इससे इनको क्या हुआ तो उसका नाम हो गया मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण एवं प्रमाण तो मत्स्य रूपी हरि प्रयोग के विहरण आत्मगुल्यम तत्व मत्स्य पुराण अप्रदीप जो राजा ने प्रश्न किए भगवान उत्तर देते रहे वही मत्स्य पुराण बन गया बोलिए श्री कृष्ण भगवान सुखदेव तो जी बोले राजन कल्प के अंत में भगवान एक होते हैं उनकी नाभि से कमल होता है कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं उनसे मरीची आदि ऋषि उत्पन्न होते हैं और फिर की कश्यप और उसके उनसे विवस्वान नाम के मनु हुए और मनु के जो है श्रद्धा में संज्ञायाम साध के वो मनु और उस उनके दस पुत्र श्रद्धा में उत्पन्न हुए इच्छापू मृग शरियाती दुष्ट दुष्ट परुषक हाँ, परिश्रम वृषभ नभक कवि है जब तक ये पुत्रोत्पन्न नहीं हुए थे तो पुत्रोत्पत्ति के लिए वो यज्ञ करा रहे थे मनु जी महाराज वशिष्ठ जी उसमें आचार्य थे मित्रावरण की मित्रावरण का यज्ञ करा है इसलिए हमारे पुत्र हो तो मन की जो स्त्री थी उसने होता के पास जाकर के ये बात कही तो भाई देखो मैं महाराज महाराज तो चाहते हैं हमारे पुत्र हो और मैं तो ये चाहती हूं मेरे कन्या हो तो अब उसने एकांत में होता से ये बात और पंडित जी तुम्हारी दक्षिणा में हालत यही नहीं पंडित जी को और उसने अपनी अनुकूल कर ली मैं नहीं चाहती लड़का मैं तो चाहती मेरे लड़की हो पड़ोस को अब गरीबी से प्रेषित हो करते होता है बसत्कार का उच्चारण करते हुए आव की डाली उससे क्या हुआ कि वो कन्या उत्पन्न कन्या जाता इला हम्म? नाम की कन्या और मनु जी ने जब देखा कि हमारे कन्या का जन्म हुआ है तो और तो कुछ नहीं उसके बाद गुरु जी से कहा वशिष्ठ जी से कहा